और उन्होंने अपना हाथ बगल में से खींच कर निकाला तो पल भर में वो सब देखने वालों के सामने सफेद हो गया